पदपाताल शिषय धाम अपर लोक अमयंग विश्राम प्रगुप्त विलास भयंकर काल नयन दिवा कर कत घनमाला सुघा फनि कुमाराय निशियरु दिवस निमेषय पार श्रवण दिशा दश बखारि मारुत श्वास निगम जपाणि पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है ब्रह्मलोक सिर है अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंग हैं भयंकर काल जिनका भृगुटी संचालन भवों का चलना है सूर्य नेत्र है बादलों का समूह बाल है अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है रात और दिन जिनके अपार निमेश पलक मारना और खोलना है दसो दिशाएं कान हैं वेद ऐसा कहते हैं वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है अधर लोभ जम दसन कराला माया हास बाहुदिक पाला आनन अम्बुपति जेहा उतपति पालन प्रलय समीहा रोमराजे अष्टादश भार सरे तान तानसजरा उदर उदधि अधगो जात जय जगमय प्रभु का बहुकल पर लोभ जिनका अधर ओठ है यमराज भयानक दांत है माया हसी है दिक्पाल भुजाएं हैं अग्नि मुख है वरुण जीभ है उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है अठारह प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली है पर्वत अस्थियाँ हैं नदियाँ नसों का जाल है समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियाँ हैं इस प्रकार प्रभु विश्व में हैं अधिक कल्पना पो क्या की जाए अहंकार शिव बोधियज मन सचेत महान मनुज बास सचराचरम भगवान् अशविचार प्रभु प्रभुसन बयरु बिहाय प्रीति रघुबीर पद मम अहिवातन जाय शिव जी जिनका अहंकार है ब्रह्मा बुद्धि है चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है हे प्राणपति सुनिए ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए जिससे मेरा सुहाग न जाए हाँ। बेहसाना रे बचन सुन का नाम अहो मोह मही माँ बलवाना नारी स्वभाव सत्य सब कह अब गुण आठ हि साहस अनित चपलता माया भय विवेक अशौच कर रूप सकल गावा अति विशाल भय सुनावा पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में आठ अवगुण सदा रहते हैं साहस झूठ चपलता माया छल भय डरपोकपन अविवेक मूर्खता अपवित्रता और निर्दयता तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया सो सब प्रिया सहज बस मोरे समुझि पराय प्रसाद अब तोरे जाने वो प्रिया तोरे चतुराये यही विधि कहू मोरि प्रभुताय कबत कह गूढ मृगलोचनि समुझत सुखद सुनत भय मोचनि मन्दोदरि मन महु यहि काल बस मति भ्रम भयु हे प्रिय वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा हे प्रिय तेरी चतुराई मैं जान गया तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है हे मृगनयनी तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी है समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है यही विधि करत बिनो दबहु प्रात प्रगट दस कंध सहजय संकलंक पते सभा गय मदयंध फूल फरई न बेत यद्यपि सुधा सही जलद मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिल ही समय इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विरोध करते हुए रावण को सवेरा हो गया तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता